निरक्ष्यमा Sena Deus. सनत कुमार आदि है और चौदह मनु है ये सारे ऐसे उत्पन्न और इस प्रकार मेरी जो विभूति और मेरा जो योग है ठीक ठीक से विचार करके यथार्थ रूप से जो जानता है कैसा अविकम्पेना निश्चल रूप से उस योग से जानता है कि वो मुझे ही प्राप्त होता है तो यहाँ तक हम लोगों ने विचार किया था आगे किस प्रकार से अविचल योग से युक्त हो जाता है ये बताया था अविकम्पेना कंपन का मतलब है चंचलता विक्षेपता अन्य मनस्क जहाँ कंपन हो चंचल हो अन्य मनस्क को आप भगवान का चिंता नहीं कर सकते भगवान की प्राप्ति के लिए ऐसा तो कोई साधन है नहीं न कोई हमारे पास तथा भी छूट दिया है पहले शांत ने कहा ये के वाच थे अप्राप्य मना कर तैतरी ने कहा मन के सहित वाणी भी लौट के आती मन का विषय भी नहीं वाणी का विषय तो श्रुति में दो ही क्यों ग्रहण किया जिज्ञासा होनी चाहिए और क्यों नहीं ग्रहण किया मन और वाणी ने ग्रहण किया ये दो इंद्रिय है हमारा एक इंद्रिया है अंतस्ट इंद्रिया तीनों कालों को विषय करती बाकी जितने भी जो हमारे इंद्रिय है वर्तमान को ही विषय करेंगे आंख देखे सामने है उसको देख सकता कान के द्वारा वर्तमान शब्द है जो बोलते रहे सुन सकता है सभी इंद्रियों से किंतु वाणी से देखे दस साल बीता हुआ वो भी हम बोलते मैंने पहले ऐसा किया था मैंने वैसा किया था ये किसे बोल रहे वाणी से बोल रहे हैं वर्तमान में तो बोल रही है और भविष्य तक विषय को लेके भी बोल रहे हैं मैं ऐसा करूँगा मैं वैसा करूँगा तो भूत वर्तमान भविष्य को वाक्य इंद्रिय कर रहे मन भी देखिए पास्ट का भी चिंतन अधिक से अधिक लोग भूत के चिंतन में चलता है बीता हुआ वर्तमान भी चिंतन करते हैं भविष्य का तो तीन भूत वर्तमान भविष्य ये दो इंद्रिय कर रहे हैं इन दो इंद्रियों का विषय नहीं है अन्य इंद्रियों तो तुच्छ तो वहां मन का विषय नहीं बता दिया और ग्रहकारिणी में बता रहे मनसा एवं आपतव्य मन से ही प्राप्त कर पाते तो इसी को लेकर बड़े बड़े विचारक विचारक है किंतु तो आस्तिक नहीं वो कहते हैं वेद है अनर्गल बोल देता है वेद में कोई तथ्य नहीं कुछ का कुछ बोल रहा है ऐसा मानते हैं कभी कुछ बोल रहे हैं कभी कुछ बोल रहे हैं भगवान के ऊपर भी आरोप करते हैं भगवान कभी कुछ बोल रहे हैं कभी कुछ बोल रहे हैं क्योंकि वो इसलिए बोल रहे हैं गुरु के समीप में जाकर विधिवत उन्होंने अध्ययन नहीं किया अपने बुद्धि लगा करके खूब कसौटी लगा दिया उन्होंने वही सब देखिए यहाँ कोई विरोध नहीं ये दुर्वाच निवर्तन के अप्राप्य मना संकार है यह फल व्याप्ति का निषेध किया है तो है ना फल व्याप्ति और मनसा एवं आप तक जो बता रहे हैं वृत्ति व्याप्ति का विषय अथवा मनसा एवं आप तव्य मतलब शुद्ध मन का विषय है यथोर्वाचन वर्तन हो तो अशुद्ध मन का विषय नहीं इसलिए कोई विरोध नहीं तो इसीलिए यहां बता रहे जब तक हमारा मन शुद्ध ना हो अविचल ना हो पीछे बताया था तब तक एक साधन है हमारे पास परमात्मा को पकड़ने का बाकी कोई है ही नहीं जैसे किसी का फोटो खींचना है आपको कि हमारा ये हिल गया तो फोटो ठीक आएगा तेरा मेरा आएगा भगवान का जो एक्सरे करना है फोटो खींचना है मन से और यदि मन विकम्पित है उससे नहीं खींच सकता है इसलिए खींचे अविकम्पे न कहा तो किस प्रकार अविचल योग से युक्त हो जाता है उसको बता रहे आठवें श्लोक में देखिए आठवा अहं सर्वस्य प्रभवो सारा ही जगत है इस जगत के उत्पत्ति का कारण मैं हूँ कौन सा कारण है कल बता दिया था विभक्त का ये जगह में वो सत भी नहीं है असत भी नहीं ना सन ना सत सत का मतलब वहां कार्य असत का मतलब कारण नहीं तो तेरहवें में सत और असत परमात्मा सत भी नहीं असत भी नहीं न सत न असत इसका मतलब क्या शून्य हो जाएगा ये बात नहीं सत का मतलब है कार्य लोक में कार्य को सत्य कहते कारण को असत कहते असत का मतलब अभाव में लेना अव्याकृत जैसा मान लीजिए बारिश आने से पहले खेती एकदम सूखी सूखी थी कुछ भी नहीं था मिट्टी मिट्टी मात्रा बारिश आ गई पहले कुछ दिन के बाद एकदम हरी भरी हो गई तो आप क्या कहते अरे पहले हम कुछ भी नहीं था अभी इसमें एकदम घास उग गई तो पहले कुछ भी नहीं था ये घास कहाँ से आ गई इसका मतलब पहले अव्याक्त ताबीज होती तो इसलिए यहाँ जो कारण बता रहे हैं अधिष्ठान मात्र है अधिष्ठान को लेकर ही कारण वास्तव में कारण नहीं तो ये बोल रहे सर्वस्व मतलब सारा जगत का प्रभाव मतलब उत्पत्ति का कारण और सर्वम मतलब प्रवर्तते मत्ता मतलब मुझसे स्थिति है नाशक क्रिया जितने भी हो उत्पत्ति के बाद होने वाली स्थिति उसके बाद नाश और जितने भी जो क्रिया है कर्म है और कर्म का फल है ऐसे ही सारा जगत ये भाष्यकार ने कहा दिया स्थिति नाश क्रिया फल उपभोग लक्षण विक्रय रूपम सर्वम सर्वशत से क्योंकि प्रभाव के द्वारा उत्पत्ति का दिया आगे जो नाश पर्यंत होने वाली जितनी भी क्रिया प्रभाव शब्द से लेके ये तेज आगे अस्थि तेज जितनी भी जो क्रिया है सारी क्रिया मत्ता प्रवर्तते मत्ता मतलब मुझसे ही अर्थात मेरे सत्ता से ही सारी क्रिया होती जड़ पदार्थ में कोई सत्ता नहीं किंतु जो भी जड़ पदार्थ है जैसे देखिए वाणी भी जड़ है प्राण भी जड़ है मन भी जड़ है शरीर भी जड़ है जड़ मन भी चेतनवत काम कर रहे कहा से आए उसमें सामर्थ्य अर्थात उस सत्ता को ग्रहण करके अधिष्ठान का सत्ता को ग्रहण करके मन भी मन कार्य कर रहे चिंतन करने की एक सामर्थ्य आ गई उसमें विचार करने की एक सामर्थ्य आ गई तो इसलिए मन ही विचार करता है तो इसलिए बोल रहे मत्ता सर्व प्रवर्तते इति मत्वा इति मत्व का मतलब इस प्रकार जान करके ये महत्व वो तो ज्ञातवा मनन करके अर्थ नहीं लेना इस प्रकार ठीक ठीक से मत्वा अर्थात ये सारा जगत परमात्मा के द्वारा ही उत्पन्न है और परमात्मा का ही सत्ता है और उस परमात्मा और मुझे में कोई भेद नहीं भेद है केवल उपाधि को लेकर जैसा मान लीजिए घटाकाश और मटाकाश उनमें ये भेद है किसको लेकर घट और मट को लेकर आकाश को लेके नहीं इसलिए जीव की उत्पत्ति बता दिया वहां मांडव के कार्य का पहले कहा उत्पत्ति है ही नहीं पत्य होगी कहां से जैसा वहां बता दिया आपको रस्सी में सर्प देख रहे रस्सी में सर्प आए यदि होता तो सबको देखना चाहिए सबको नहीं दिखता है ना तो रस्सी में सर्प निश्चय नहीं है तो सबको देखना चाहिए अच्छा रस्सी में नहीं इसमें मन में है सर्प सर्व बीच में है मन में यदि मन में होता तो अहम सर्पा होना चाहिए मन में जो जो है उसमें अहम प्रयोग होता है जैसा अहम सुखी अहम दुखी तो अहम सर्पा भी नहीं होता है इसलिए मन में भी नहीं रश्मि में नहीं इसलिए सर्प है ही नहीं दीक रहे भाव हो रहे वैसे ही हम बता रहे हैं महत्व का मतलब ये है अभेद रूपेण ध्यान चिंतन कर भजनते भजनते के मतलब है सेवन करते हैं चिंतन करते हैं उस परमात्मा का निरंतर चिंतन या भजन तो भजन है चिंतन विचारात्मक चिंतन करना भज सेवयम भगवते भी किंतु इसका अर्थ है चिंतन सबसे बड़ा यदि कोई भजन है चिंतन मात्र उससे बढ़कर कोई मजा नहीं तो हम कर रहे हैं क्या मजा नहीं कर रहे हैं तो मजा नहीं तो इति मत्वा माम भजते माम बोल तो मुझको मुझको मतलब उस ब्रह्म स्वरूप तो भजन से मतलब अभेद रूपेण चिंतन देखिए यहाँ माम शब्द से लेना तत्पद का लक्ष्य बोले और भजन ते कौन भजन ते साधक और तम पद का लक्ष्य साधक है तम पद का लक्ष्य हो जाएगा और माम शब्द से तत्पद का लक्ष्य जैसे वहां तेरह में क्षेत्रज्ञमपि माम क्षेत्र माम सर्वक्षेत्रेषु तो इसका मतलब है तत्व से अभिन्न तम रूप से जो चिंतन करता है तो माम दे क्यों उदा तो किसी के मन में ये हो सकता है आपने ऐसे क्यों अर्थ किया या सीधा सीधा बोले मेरे भजन करते ये होना चाहिए तो आपने अर्थ किया तत्व से अभिन्न तम है इस प्रकार चिंतन कि ऐसा क्या ये तो दे आएंगे तो आगे बुधा शब्द प्रयोग है ना उससे लेकर बुधा मतलब यहाँ बुद्धिमान तत्वज्ञान बुधा मतलब बुद्धिमान विचार तत्वज्ञान तत्वज्ञान के दृष्टि में वह अभेद होना चाहता है इसलिए बोलते हैं बुधा आम भजनते कैसा भाव समन्विता भाव समन्वित बंधु भाष्य कर रहे भावो भावना परमार्थ तत्व अभिनिवेश यद्यपि अभिनिवेश क्लेश माना है पंच क्लेश पांच क्लेशों से युक्त हो तभी जीव माना जाता है क्लेश अपरिपृष्ट है ईश्वर है पांच क्लेश है कौन अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ये पंच क्लेश माना है योग सूत्र में सबसे पहले अविद्या मानी है उसके बाद अस्मिता है राग है द्वेष है और अभिनिवेश अभिनिवेश का मतलब है जन्म जन्मांतर से पड़ा है मैं मरने वाला है मेरा सत्ता मिल जाएगा मेरा अस्तित्व समाप्त जैसा मान दीजिए छोटा सा बालक और उसके सामने कोई व्यक्ति भयंकर तलवार लिया पगड़ी बांधा तो बालक चिल्लाने लगता है क्यों ये बालक सोच रहे अयम माम हम तो इच्छति ये व्यक्ति मुझे मारना चाहता है तो थोड़ा विचार कर लीजिए वो बालक को मरने का भय कहाँ से आया अभी तक मरा तो है मरने का भय ना से ना मरता हुआ देखा भी नहीं ना मरते हुए सुना भी नहीं चलो हम लोगों ने तो देखा है सुना भी है वो मर गया ऐसा कर उस बालक ने ना अभी सुना ही ना देखा तो भी भया कहाँ से हो गए ये जन्म जन्मांतर से बढ़ा हुआ जो संस्कार है ये अभिनिवेश अनात्मा पदार्थ में जो अभिनिवेश होता है वो दुख का कारण है जन्म का कारण होता है किंतु यहां बता रहे परमात्मा तत्व अभिनिवेश पहले भी एक दिन बताया था आत्मा वासना अनात्मा वासना करके तो इसलिए परमात्मा जो तत्व है उसमें ही धारण से उसमें ही अभिनिवेश कर इसी का नाम है भाव समन्विता वो भी कैसे है श्रद्धा और भक्ति पूर्वक दोनों चाहिए तो श्रद्धा और भक्ति पूर्वक परमात्मा तत्व में है मन को लगाना परमात्मा तत्व ही सत्य है उसमें ही जो मन लगाना उसी का नाम है भाव समन्विता ऐसे जो भाव समन्विता है क्या करते हैं मेरा चिंतन करते हैं माम भजनते मेरा भजन करते हैं और भी बता रहे कैसा है करके नब्बे में मच्चिता मई चित्तम ऐशाम ते मच्चिता देखिए अज्ञानी का जो चित्त है अनात्मा पदार्थ चाहे तो जागृत में हो स्वप्न में हो सुषुप्ति में जाके तो कारण में लीन हो गया अलग बात अधिक से अधिक उनका अनात्मा में लगता है किंतु यहाँ भगवान बता रहे मुझ में ही जिसका चित्त है निरंतर भगवान में ही उसका चित्त लगा है ये निरंतर कैसा होगा वे निरंतर यदि भगवान में भी लगे वो सारा कार्य कैसा करेंगे अन्य भी कार्य करना पड़ेगा ना शरीर का निर्वाह के लिए देखिए कार्य होना अलग है जैसा हम यहाँ से चल के जा रहे हैं तो पैर से चल रहे हैं मन से तो चिंतन तो कर सकते और ये जो चलने की सामर्थ्य भगवान में भी है तो चिंतन कर सकते इसलिए कहा यद्यत कर्म करो भी गिलम शंभु तमारा मैं जो भी कर्म कर रहे हैं ये भगवान आपकी पूजा है इसलिए हर समय में ये चिंतन कर सकते ऐसी बात नहीं तो इसलिए हम बता रहे हैं मत चित्त मुझ में ही इसका चित्त है निरंतर हर समय में और मत गता प्राण देखिए हम प्राण शब्द से इंद्रिय लेना प्राण शब्द तीन में प्रयोग होता है परब्रह्मा परमात्मा में भी प्राण शब्द प्रयोग होता है और प्राण शब्द है हिरण्य गर्भ में भी प्रयोग होता है और ये इंद्रियों में भी प्रयोग होता है इंद्रियों को प्राण क्यों कहा गया एक बार इंद्रियों में अभिमान आ गया इंद्रिय ने सोचा सबसे मैं ही श्रेष्ठ मेरे बिना काम नहीं चलेगा चक्षु ने सोचा मेरे बिना काम नहीं चलेगा तो अभिमान आने के बाद हम लोग में श्रेष्ठ कौन है ये निर्णय करने के लिए वो प्रजापति के पास गए तो प्रजापति ने कहा प्रेरित तो सीधा सीधा गाने से नाराज हो जाएंगे तो उन्होंने कहा जिसमें जिस शरीर में जिसका अभाव से अत्यंत पापिष्ट दर होता है वो श्रेष्ठ है तो एक एक इंद्रिया एक एक साल के लिए गए निकल गए पहले बाघ इंद्रिय गए आगे पूछा मेरे बिना आपको तो कैसा है जैसा कूंगी के समान चक्षु जाने के गए और वापस आगे पूछा कैसा अंधे के समान तो सारे इंद्रिय जाने पर भी शरीर में कोई रुकावट नहीं अंतिम में प्राण निकालने के लिए तैयार निकाला नहीं सारे इंद्रिया डामाडोल हो गई और सारे इंद्रियों ने प्रार्थना किया है प्राण देवता आप ही श्रेष्ठ है और उसके बाद जो प्राण ने सारा अन्न अपने के लिए ग्रहण तो इंद्रियों ने कहा हे प्राण देवता जितना भी जो अन्न है सब आपने ग्रहण किया हम तो क्या खाएंगे हम भी भूखे हैं हम लोगों को भी भागीदार बनाओ हाजस तो प्राण ने कहा मैं अलग तो नहीं दे सकता इसलिए आप सभी मेरे अंदर मतलब मेरे चारों तरफ से प्रवेश हो जाओ निर्विवेश तो प्राण के चारों तरफ में प्रवेश होने से इंद्रियों का नाम भी प्राणाम शब्द पड़ा तो इंद्रिया कहते हैं इंद्रश इदम हमारे शरीर में इंद्र बैठा है ना जीवात्मा का नाम इंद्र स्वर्ग का अधिपति भी लेना शरीर के अंदर जो बैठा है आत्मान रजनम विद्य जो जीवात्मा है वो इंद्र है उस इंद्र के उपयोगी होने से इंद्र के साधन होने से इन चक्षुरादियों का नाम क्या पड़ा इंद्रिया और ये इंद्रिया प्राण के आसपास में प्रवेश होने से इनका नाम पड़ा है प्राणा तो इंद्रियों का नाम भी प्राण है और एक परमात्मा का नाम प्राणस्य प्राण के उपनिषद प्राण का भी प्राण है वहां जो प्राण शब्द है परम और एक प्राण शब्द प्रयोग होता है हिरण्य गर्भ तो इसलिए यहां बता रहे हैं मदगता प्राणांत इंद्रिया ये जो हमारे चक्षुरादि इंद्रिय रूप है ये जो प्राण है मध्यता मुझ में ही जिनका समस्त कारण उपस्थित तो जो भी हम इंद्रियों से कार्य कर रहे हैं ये परमात्मा के ही मान के करना ये बोलते मत कदम लाना परस्परम बोधयंता परस्पर मतलब जहाँ भी हम बैठे हैं आपस में परस्पर उसी आत्म तत्व का ही समझाते हुए उसके विषय में विचार करते हुए हर समय में एक दूसरे को बात करना हो आत्मा के विषय दूसरे से विचार करना हो उसी को लेकर अनात्मा का विचार करने से कुछ मिलेगा नहीं हाँ जितना आवश्यक है वो भी वो आवश्यक क्यों है अनात्मा विषय का चिंतन जिसके द्वारा हम आत्मा का चिंतन करें देखिए आत्मा का चिंतन करना हो अनात्मा को आश्रय करना ही पड़ेगा अनात्मा को अनात्मा के आश्रय के बिना आप आत्मा का चिंतन नहीं कर सकते जितनी भी शंका है समाधान है ये किसमें होता है द्वैत में होता है शरीर के आश्रय के बिना क्या हम आत्मा का चिंतन कर सकते हैं नहीं कर सकते स्वप्न में भी नहीं कर सकते सुषुप्ति में तो जागृत में करेंगे कभी तो शरीर को आत्म करेंगे तो शरीर माध्यम हो गया तो अनात्मा का आश्रय कहेंगे नहीं तो इसलिए शरीर को भी स्वस्थ रखने आवश्यकता काय के लिए शरीर की स्वस्थ इसलिए हमारे स्वस्थता में स्थित होने शरीर की स्वस्थता अपने स्वस्थता में स्थित होने के लिए स्वस्मिन तिष्ठ दीजिए स्वस्थता अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है उसको कहते हैं स्वस्थ तो अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए पहले शरीर को स्वस्थ रखना पड़ेगा और माध्यम है तो इसलिए हम बता रहे परस्पर बोधयता आपस में एक दूसरे का वो परमात्मा तत्व को ही समझाना उसके विषय में ही बात करना बैठते उठते इसलिए कहा गया है आसुक्ते आवते वेदांत चिंतन जब तक सुसुप्ति में हम नहीं जा रहे तब तक मृत्यु नहीं आ रही तब तक वेदांत का निरंतर चिंतन करना हर समय यही देवोदय परस्परमोदय और कतय कथयंत मतलब एक दूसरे के प्रति कहना परमात्मा के विषय में ही कहना और परमात्मा के विषय में बोध करवाना जहां भी तुष्यंति माम नित्यम नित्य में ही वो क्या होते हैं तुष्यन तुष्यन्ति नित्यम तुष्यन्ति बोलो निरंतर संतुष्ट रहते देखिए अनात्मा का चिंतन करने से वहाँ भी संतोष मिलता है ऐसी बात नहीं यदि रस नहीं मिलता तो क्यों चिंतन कर रहे वहां वहाँ भी रस मिल रहे कि नहीं अनात्मा में किंतु रस नहीं है रसाभास है आभास मात्र है और आत्मा का जो चिंतन है वास्तव रस है इसलिए तुष्यंति नित्यम सदा उसमें ही संतुष्ट रहते हैं और माम रमंती माम च बोलते मुझ में ही रमण करते विषय में नहीं रमण करते वो उस परमात्मा तत्व है अपना स्वरूप है उसमें रमण करते इसलिए चांदोग्य में कहा गया आत्मा रते आत्मा की देवता आत्मा राम अर्थात आत्मा में ही क्रीड़ा करते हैं आत्मा में ही रमण करते हैं इसलिए बोल रहे हैं माम तुष्टमंदी मुझ में ही रमण करना रमण का मतलब है आनंदित होना प्रमुख क्रीड़ायाम हुआ है इसलिए यहाँ अपना स्वरूप में ही वो आनंदित होते हैं मस्त रहते हैं ऐसे लोग साधक तो इस प्रकार करने वाले जो आठ और नौ श्लोक में बता दिया जो पुरुष मुझ में ही प्रेम करते हैं मेरा ही चिंतन करते हैं मेरा ही भजन करते हैं उनका प्राण है सारा मेरा है तो उनके लिए क्या करता हूँ ये बता रहे हैं दसवें श्लोक में देखिए इस प्रकार जो निरंतर चिंतन करने वाले जो भक्त हैं उनके प्रति भगवान भी कृपा करते ये बता रहे हैं दसवें में देखिए तेषाम तेषाम मतलब आठवें और नब्बे श्लोक में बता दिया था ऐसा जो साधक है ऐसे जो जिज्ञास उनका सतत युक्ता सतत तो निरंतर निवृत्त सर्वभाषण मतलब पुत्रेषण वित्तेषण लोकेशण त्रय रहित और निरंतर तत्पर है परमात्मा का चिंतन ऐसा सतत युक्तानाम तेषाम भजताम प्रेमी पूर्वकम भजताम और कैसे है प्रेम की पूर्वकम प्रेम तो प्रेम पूर्वक अभी देखिए प्रेम किसको कहते हैं प्रेम कोई अलग नहीं है बृहदारण्य उपनिषद में कहा गया है आत्मनस्तु कामाया सर्वं प्रियं भवति पुत्रात् प्रेया वित्तात् प्रेया सबसे यदि कोई प्रेम है अपने आत्मा में आत्मा प्रेम स्वरूप है इसलिए वहां बताया ना सचित आनंद परम प्रेमास्पद है तो जो प्रेम है आत्मा में ही होता है जैसा हम किसी बाहर प्रेम करते हैं वस्तु के लिए कोई प्रेम नहीं कर रहे भगवान भाष्यकार जी ने वहां बता दिया प्रेम है आत्मा का और वो जो आत्मा उपलब्ध हो रही किसमें यद्यपि सर्वत्र ही वह जैसा गाय के संपूर्ण शरीर में दूध होने पर भी सींग में दूध उपलब्ध नहीं होता पूंछ में भी नहीं किंतु स्तन में वैसे ही परमात्मा सर्वत्र होने पर उसकी उपलब्धि है बुद्धि में होती बुद्धि के द्वारा ही बुद्धि में ही उपलब्ध है इसलिए उसको विज्ञान है कहा तो बुद्धि में ही उपलब्ध तो बुद्धि में उपलब्ध हो रहे किसकी उस आत्मा की अतः बुद्धि के साथ हमारा प्रेम हो गया देखिए मूल प्रेम है स्वरूप का उपलब्ध बुद्धि में हो रहे इसलिए बुद्धि में प्रेम हो और बुद्धि का संबंध है मन से मन में प्रेम हो गया मन का संबंध है इंद्रिय प्राणादि के साथ उनमें प्रेम हो गया और उनका संबंध है शरीर शरीर में प्रेम हो और शरीर का संबंध विजातीय शरीर से हो गया सही आगे वहाँ प्रेम हो गया और दोनों से उत्पन्न हुआ जो तीसरा है आदि वहाँ प्रेम हो गया उसके बाद पुत्र को पालन पोषण करने के लिए धन का संबंध हो गया वहाँ प्रेम हो गया देखिए आपका प्रेम बढ़ते बढ़ते बढ़ते बाहर गया एक ही प्रेम था धीरे धीरे धीरे फैलते हुए चारों तरफ से गया मूल तो प्रेम हमारा तो इसलिए भक्ति कोई अलग नहीं है प्रेम का नाम ही भक्ति तो वहां सौंदर्य लहरी की व्याख्या करते हुए वहां बता दिया है जैसा शिष्य अथवा भक्त शिष्य अपने गुरु के प्रति प्रेम करता है उसी का नाम है भक्ति साधक अपने आराध्य के प्रति प्रेम करता है उसी का नाम है भक्ति और गुरु शिष्य के प्रति प्रेम करता है उसी का नाम है अनुग्रह प्रेम है गुरु जो शिष्य के प्रति करता है भगवान अपने भक्ति के प्रति करता है वो अनुग्रह का और माता पिता अपने पुत्र अथवा पुत्र के प्रति प्रेम करते उसी का नाम है वात्सल्य देखिए एक ही प्रेम अलग अलग नाम पड़ा है भक्ति भी वही है अनुग्रह भी वही है वात्सल्य भी वही है और किसी शरीर को लेके कोई प्रेम करना है कोई पुरुष किसी स्त्री का शरीर को मोह हो गया उसको मोह सही तो एक ही प्रेम आपका विभाजन अनुग्रह रूप से भक्ति रूप से वात्सल्य रूप से मोह रूप से इसलिए हम बता रहे हैं प्रीति पूर्वक अर्थात प्रेम पूर्वक जो भजताम इस प्रकार जो भजताम मतलब जो चिंतन करते हैं और भगवान का अनुसंधान करते हैं उनके लिए बता रहे हैं तम उद्योगम ददामी तम बोल तो वह तत्व ज्ञान प्रदान है का मतलब है भाष्यकार जी बता रहे सम्यक दर्शन लक्षण न इसको बोलते बुद्धि योग वह जो तत्व ज्ञान योग बुद्धि योग उनको ददामी प्रदान कर अब यहाँ भगवान बुद्धि योग दे रहे इसका मतलब भगवान पक्ष बात कर रहा ऐसी बात नहीं भगवान दे रहे इतना ही तात्पर्य उसमें जो साधक साधना करते करते उसके जो जितना भी दोष निवृत्त हो रहे तभी भगवान उनके सामने भान हो रहे जैसा भगवान अलग नहीं देता है पीछे बता दिया था मैं किसी का पुण्य भी नहीं लेता हूँ मैं पाप भी नहीं अज्ञान ही ना तेन पुण्यम के जानता तो यही बोल रहे बुद्धि योगम तदा तम बुद्धि योगम एन माम उपयंती ते एन उस बुद्धि योग के द्वारा ज्ञान योग के द्वारा ते मतलब इस प्रकार जो उपासक है विचारक है चिंतक माम उपयान थी अर्थात मुझे उपयान के बोलते तो आत्मरूप से समझते उस आत्मरूप को परमात्मा देखिए परमात्मा कोई अलग नहीं वो आत्मरूप जो परमात्मा है उसको वो जानते किससे ज्ञान योग बिना ज्ञान योग के द्वारा उस आत्मा और परमात्मा है यथा ये जो ज्ञान योग प्राप्त होता है परमात्मा के उपासना से परमात्मा के चिंतन से प्राप्त होता है तो प्राप्त हो रहा है इसलिए मैं दे रहा हूं है तो पहले से ही अलग नहीं तो वो नहीं उसके बाद उनके अनुभव पकड़ने के लिए मैं क्या करता हूँ उनका अंधकार हटाता हूँ उसको आगे जाकर ओम शांति